सुंदर को विक्रांत के सामने पड़ी चेयर पर बैठा दिया गया विक्रांत ने सुंदर को पहले ही समझा दिया कि मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका जवाब सच सच देना झूठ बोलने की कोशिश की भी तो खैर नहीं विक्रांत पहले से ही कॉन्फिडेंट था क्योंकि अभी भी उसके पास अदृश्य शक्ति द्वारा दिया हुआ दो लाइट डिटेक्टर मौजूद था इसलिए उसे विश्वास था कि वो कैसे भी करके सुंदर से सच निकलवा ही लेगा यहाँ तक कि अगर वो अनजाने में भी झूठ बोलेगा तो भी विक्रांत को आप कुछ पता चल पाएगा इस वक्त सुंदर भी काफी हैरान परेशान सा दिख रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त आखिर उससे किस सिलसिले में पूछताछ होने वाली विक्रांत का इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद उसने अपना सिर हिलाकर उससे सहमति जता दी और वो पूछताछ के लिए तैयार हो गया जैसे ही सुंदर को विक्रांत के सामने कुर्सी की ओर बिठाया गया विक्रांत के दिमाग में फिर से एक्सपर्ट शब्द घूमने लगा उसने पहले ही सुंदर का सारा क्राइम रिकॉर्ड देख लिया था सुंदर के ऊपर सिर्फ एक या दो किडनैपिंग केस नहीं चल रहे थे बल्कि कई सारे किडनैपिंग केस के साथ ही उसके ऊपर मर्डर के भी कई सारे केस चल रहे थे विक्रांत को पता था कि इस वक्त उसके सामने बैठा ये आदमी किडनैपिंग और मर्डर में एक्सपर्ट है ऐसे में इस एक्सपर्ट से कुछ खास इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा विक्रांत ने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपर्ट से कुछ सीखा जाए अब तक सामने बैठे सुंदर का शरीर डर के मारे कांपने लगा उसने कांपती हुई आवाज में कहा मैं मैं, मैं मैंने कुछ नहीं किया साहब मैं मैं नहीं जानता साहब सच में इतना कहते वो जमीन पर गिर पड़ा फिर उसे हवलदार ने पकड़कर फिर से कुर्सी पर बैठाया हाँ मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया बैठो विक्रांत ने कहा तो तो आप आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं मैं, मैं अपनी बकवास मंद करो विक्रांत ने उसे चुप कराते हुए कहा ये बताओ अगर तुम किसी को किडनैप करते हो तो उसके घर वालों से किडनैपिंग के पैसे कितनी देर में मांग लेते थे क्या सुंदर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे कैसी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है साहब जैसी किडनैपिंग हो वैसे ज्यादातर केस में तो 24 घंटे के भीतर ही पैसे मांग लिए जाते हैं हम्म, विक्रांत ने भी यही सोचा था लेकिन अगर कोई खोता है या किडनैप होता है तो 24 घंटे बाद ही उसकी एफ लिखी जाती है और एफ लिखे जाने के बाद किडनैपर्स की मुश्किल बढ़नी शुरू हो जाती है इसीलिए वो किडनैपिंग के 24 घंटे के भीतर ही पैसे वगैरह लेकर अपना काम खत्म करने की कोशिश करते हैं और अगर कोई किडनैपर तीन दिन बाद पैसे मांगता तो तो क्या सिचुएशन हो सकती है विक्रांत ने अगला सवाल किया ये सवाल सीधे ही बच्चों की किडनैपिंग से जुड़ा था लेकिन चूंकि अभी तक इस केस से जुड़ी ज्यादा बात बाहर नहीं आई हुई थी सो किसी को ये पता नहीं था साहब इसके पीछे कई तरह की सिचुएशन हो सकती है सुंदर ने जवाब दिया जैसे कौन कौन सी सिचुएशन हम्म, हो सकता है कि किडनैपर को और ज्यादा पैसों की जरूरत रही हो तो वो फिर से मांग कर रहे हो या हो सकता है जिसे किडनैप किया गया हो वो किसी तरह बचकर भाग गया हो लेकिन बाद में फिर पकड़ में आ गया हो या फिर किडनैपर्स के बीच आपस में कोई बात हो गई हो ठीक है विक्रांत ने पहले ही ये तीनों गैस लगा रखे थे क्योंकि किडनैपिंग पांच बच्चों की और एक ड्राइवर की हुई थी तो ऐसे में इन तीनों ही संभावनाओं के होने की उम्मीद की जा सकती है ऐसे में किडनैपर्स ने पैसे मांगने के लिए तीन दिन बाद फोन किया या चौबीस घंटे के भीतर फोन किया इस हिसाब से उनके प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल होने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है अच्छा और गाड़ी गाड़ी का क्या करते हो क्या कोई किडनैपर अपनी गाड़ी लेकर जाता है या फिर जिसे किडनैप करना हो उसी की गाड़ी ले जा सकता है साहब किडनैपर हमेशा अपनी गाड़ी लेकर ही जाता है चाहे वो गाड़ी चोरी की ही क्यों ना हो लेकिन किडनैपर हमेशा अपनी ही गाड़ी लेकर जाता है कोई भगौड़ा किडनैपर ही अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएगा भगौड़ा किडनैपर विक्रांत सोच में पड़ गया आखिर भगौड़ा किडनैपर क्या होता है इस शब्द में कुछ जरूरी मतलब छुपा हुआ समझ आ रहा था तो कुछ देर तक सोचते रहने के बाद विक्रांत ने दोबारा से सुंदर से पूछा किस तरह की स्थिति में किडनैपर जिसे किडनैप करता है उसका मर्डर भी कर सकता है सब सब मैंने कुछ नहीं किया हमने बस उस औरत की किडनैप किया था वो खुद ही मर गई उसको फेफड़े की बीमारी थी साहब वो खुद ही मर गई साहब हमें बस पैसे से मतलब होता है हम किसी को मार के अपना काम क्यों खराब करेंगे विक्रांत को सुंदर की ये बात सही भी लगी ये बात सही भी थी कि सुंदर ने जिस औरत को किडनैप किया था उसे हार्ट की बीमारी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी इसी वजह से सुंदर की सजा फांसी से घटाकर उम्र कैद में कर दी गई थी विक्रांत इस बात को अपने केस से भी जोड़कर देखने लगा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन किडनैपर्स ने बच्चों को क्यों मारा होगा उन्हें पैसे तो मिल ही रहे थे फिर इतनी बर्बरता पूर्वक बच्चों और ड्राइवर को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद विक्रांत ने फैसला किया कि वो सुंदर को सारी सिचुएशन सही सही बताकर कुछ पता लगाने की कोशिश करे उसने सुंदर को अपने केस के बारे में सब कुछ बता दिया अंत में उसने सुंदर से यह भी कहा कि अगर वो इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद कर देता है तो हो सकता है कि उसकी सजा और भी कम हो जाए सजा कम होने की बात सुनकर सुंदर खुश हो गया उसे जहां तक पता था उसने सब कुछ विक्रांत के सामने रख दिया सुंदर ने विक्रांत को बताया कि साहब देखो किडनैपर तभी मर्डर करता है जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है जैसे कि पहला कारण ये हो सकता है कि घर वाले पैसे देने में आनाकानी कर रहे हो या पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हो तब किडनैपर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है दूसरा सीन ये हो सकता है कि जिसे किडनैप किया गया है उसने किडनैपर्स का चेहरा देख लिया हो तब किडनैपर्स को खुद के पकड़े जाने का डर होता है इस केस में भी वो जिसे किडनैप करता है उसका मर्डर भी कर सकता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हम जिस किसी को भी किडनैप करने के लिए जाते हैं तो पहले उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और सब कुछ एकदम प्लानिंग के साथ से करते हैं पहली बात तो हम कभी किसी ऐसे को अपना टारगेट नहीं बनाते हैं जिसे हम जानते हैं ऐसे में पहचाने जाने का खतरा वहीं खत्म हो जाता है फिर बाद में अगर हमें वो पहचान भी लेते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसे हाथ में आते ही हम शहर से बाहर भाग जाते तो फिर पकड़े जाने के डर से किडनैप हुए आदमी का मर्डर करने का सवाल ही खत्म हो जाता है और फिर तीसरा केस ये हो सकता है जैसा कि मेरे साथ हुआ था जैसे वो औरत बीमारी की वजह से मर गई थी ऐसा हो सकता है कि किसी दुर्घटना की वजह से किडनैप हुए शख्स की मौत हो जाए मान लो वो किसी तरह बच के भागने की कोशिश कर रहा है तो भी हो सकता है कि किडनैपर ने उसका मर्डर कर दिया हो लेकिन ये बहुत कम ही होता है फिर सुंदर ने सीरियस होते हुए विक्रांत से कहा साहब मुझे लगता है कि आपके केस में जो हुआ वो अलग ही है क्या क्या क्या अलग मतलब विक्रांत ने क्यूरियस होकर पूछा साहब आपके केस में मुझे लग रहा है कि मर्डर बदले के लिए हुआ है मैंने भी न्यूज में सुना था कि सुरंग के भीतर से बच्चों का कंकाल मिला था मुझे तो तभी लग गया था कि उन्हें दुश्मनी के चलते मारा गया था या फिर यह भी हो सकता है कि किडनैपर का दिमाग खराब हो रहा हो उसे कोई मनोरोग हो और उसने पागलपन के चलते ही बच्चों को इतनी निर्दयता से मार डाला हो अब भले ही साहब हम लोग किडनैपर हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर भी थोड़ी इंसानियत होती है भला कोई बच्चों को ऐसे जलाकर कोई क्यों मारेगा अगर वो नॉर्मल किडनैपर रहा होता तो फिर उसे बस पैसों से मतलब रहा होता मर्डर करने का कोई सवाल ही नहीं था ओ विक्रांत सोच में पड़ गया उसने कुछ ही पल में बहुत सारे नए शब्द सुन लिए थे बदला दुश्मनी मनोरोग पागल क्या सच में कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर सकता है और अगर ऐसा है तो भला इसके पीछे क्या वजह हो सकती ऐसी कौन सी दुश्मनी हो सकती है आखिर कोई इतनी निर्दयता से बच्चों को मारने के बारे में क्यों सोच रहा था ये किडनैपिंग केस तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है